विश्व पितामा जी कहते प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया महाभारत का युद्ध हुआ पांच दिन हो गए ना तो पांडव मरा ना तो सेना मरी दुर्योधन ने विष्णु पितामा से कह दिया बाबा मैं जानता हूँ आप पांडवों से मिले नहीं हो इसलिए आप ना तो सेना को मार रहे हो ना पांडवों को मार रहे हो विष्णु पितामा ने कहा देख दुर्योधन मैं पांच पांडवों को चने की तरह भून कर खा जाऊं और ये सामने ये कांग वाला श्री कृष्ण आ जाता है उस वक्त विष्णु पितामा ने कहा दुर्योधन ये कृष्ण ने क्या कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा तो मैं भी गंगा पुत्र नहीं इससे अस्त्र उठवा या तो कल कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा या तो इन पांच पांडवों को मरना था ये बात विष्णु जी ने कही और किसने सुन ली भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण को नींद नहीं आए भगवान आधी रात के समय अर्जुन के पास चले गए अर्जुन बड़ी गहरी नींद में सो रहा था भगवान ने कहा अर्जुन उठो सुबह तुम मरने वाले अरविंद घेर नींद में गारे प्रभु आप हो हमें क्या दे सोने दीजिए अरे भगवान बोले कैसा इंसान है मैं इसे कह रहा हूँ तू कल मरने वाला है और ये मुझे कह रहे मुझे सोने दे इसलिए हमारे वृंदावन के रसिक संत बड़ा सुंदर कहते हैं हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है अरे हम क्या भगवान की चिंता करते हैं भगवान हमारी चिंता करते हैं वो सुदर्शन चक्रधारी हमारे रक्षक हमें किस बात का डर इस तरह से अर्जुन भगवान के भरोसे सो गया भगवान रात के समय द्रौपदी के पास गए द्रौपदी भगवान को देखकर चौंक गए और भगवान को का सका तब कुशल मंगल तो है तो भगवान ने कहा आधी रात को किसी के पास आए तो कोई अच्छी बात होगी बोले मंगल मंगल नहीं आमंगल है बोले क्या बोले एक नहीं दो नहीं तीन नहीं तुम्हारे पांच के पांच पति कल मारे जाएंगे ऐसा विष्णु पिता मैंने कहा द्रौपदी को फूट फूट कर रोने लगी भगवान ने कहा क्या हुआ बोले आपने तो कहा मेरे पति मर जाएंगे भगवान ने कहा मैंने कहा मर जाएंगे अभी मरे नहीं है तो अभी रोने की जरूरत नहीं है बोले सका क्या करें बोले चलो मेरे साथ तो भगवान द्रौपदी को लेकर जा रहे और भगवान क्या बने ग्वाले ऐसे माथे पर भगवान ने कमला बांध लिया काली कम्बल भगवान ने कंधे पर धरी डंडा हाथ में लिए ग्वाले बने भगवान सेवक बनकर द्रौपदी के जा रहे रात का अंधेरा और द्रौपदी की चप्पल टक टक टक आवाज करे अरे भगवान ने कहा ये तो मरवा देगी तो भगवान ने कहा द्रौपदी सकी लाओ चप्पल मुझे दे एक हाथ में डंडा एक हाथ में भगत की चप्पल लिए जा रहे मस्त अपनी मस्ती में और हमको कोई बोले लाओ हमारी चप्पल पकड़ ले शर्म नहीं आती मारा की चप्पल उतरवाएगा हम में और भगवान में बहुत अंतर है और ऐसे माँ भागवत के अंदर भी बड़े अंतर है महाराज द्रौपदी से पहले वहाँ कौरव विषम जी को नमस्कार करने आया सबको आशीर्वाद दिया विषम जी ने सब लोग चले गए तो विषम जी ने हाथ में पकड़ी माला और आंख बंद कर कर घूम माला फटका इतने में भगवान द्रौपदी को लेकर विषम जी के दरवाजे पर खड़े हो गए तो सेवकों ने रोक दिया और भगवान को कहा हे सेवक काला कलूता जाओ उधर चले जाओ द्रौपदी को कहा महारानी द्रौपदी ने अंदर जाकर विषम जी को कहा प्रणाम पितामा विषम जी समझे दुर्योधन की पत्नी कहीं सुमति होगी और विषम जी ने कह दिया सौभाग्यवती भवो द्रौपदी को एक मरतबा सौभाग्यवती कहो का मतलब उसके पांच पति की रक्षा होगी अगर एक भी उसका पति मरता हो तो विधवा हो जाएगी माँ द्रौपदी ने कह दिया बाबा मैं द्रौपदी चौंक गए भीष्म जी माला हाथ से खिसक गई भीष्म जी ने कहा द्रौपदी तुम्हें कृष्ण लेकर आया है बोले हाँ बाबा कहा है बोले सेवकों ने आपको आने नहीं दिया द्रौपदी को लेकर भगवान के पास भीष्म जी जाए पेड़ के नीचे काली कम्बल को ओढ़े भगवान ने विषम जी ने भगवान को नमस्कार केवल पैर को संपर्श किया तुरंत भगवान ने कम्बल को हटाया और वो चप्पल द्रौपदी की सर के नीचे द्रौपदी की चप्पल सर के नीचे ये दर्शन देखकर विषम पितामा जी रोने लगे कांपने लगे लौटने लगे भगवान के सामने बोले प्रभु अब मेरी बात तो झूठी हो गई क्योंकि जिस भक्त की चप्पल आपके सर के नीचे हो उस भक्त का तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है तो जब दास जी चरित्र सुन रहे थे संतों के माध्यम से तो दास जी को एक बात बड़ी सुंदर यहाँ पर याद आ गई तो दास कृष्ण किशोर जी कहते हैं भगवान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया बोले भाई कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया अरे भगवान ने कहा त्रेता युग में दूर दूर जगह जगह एक चर्चा चल रही थी कि भगवान के भक्त आए भरत जी महाराज और भगवान की चप्पलों को उसने सर के ऊपर रख दिया अब तीनों जगह तीनों लोगों में एक ही चर्चा चल रही है कि भक्त ने भगवान की चप्पल को सर में रख लिया जगह जगह भक्त की तारीफ हो रही है अब भगवान ने कहा भाई हमारा भी कुछ हो जाए इस रिकॉर्ड को हम भी तो तोड़ दें तो बोले आज मौका है तो वो मौका क्या था कि जहाँ भक्त ने भगवान की चप्पल ली सर के ऊपर भगवान ने उसकी चप्पल सर के नीचे ले ली तो आज उस रिकॉर्ड को ही भगवान ने तोड़ दिया और यहाँ पर भीष्म जी को भगवान ने बता दिया बोले जिसके सर पर मेरा आशीर्वाद हो न उससे कोई नाश नहीं कर सकता है बोलो दीन बंधु भगवान की और विषम जी बोले भक्त का आशीर्वाद नजर आ रहा है आपका तो आशीर्वाद की नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि चप्पल तो भक्त की सर के ऊपर है आपकी और भगवान ने कहा एक ही बात है दोनों सोनू का आशीर्वाद मिल जाए वो एक ही होता है भगवान ने कहा बाबा क्या हुआ बोले प्रभु मैंने प्रतिज्ञा ली है या तो आपको अस्त्र उठाना पड़ेगा या तो पांच पांडव को मरना पड़ेगा भगवान ने कहा देख बाबा मेरे तो माँ बाप का ठिकाना नहीं है कोई बोले देख यशोदा का छोरा कोई बोले नहीं तुम्हें गलत फहमी हो रही यशोदा का नहीं है देव जी का छोरा है हमारे तो एक माँ बाप नहीं है पर तुम एक माँ के बेटे हो वो है गंगा और एक बाप के पुत्र हो वो संतान तुम्हारी बात रहेगी हमारी बात की छोड़ दीजिए अपना मान चले चल जाए भक्त का मान न चलते देखा प्रभु को नियम बदलते देखा हमारी जोड़ी है सुबह बात करेंगे विश्वजीत तीरों की सैया पर लेटे भगवान से कह रहे कि प्रभु क्या वो आपकी झांकी थी कि आपने मेरे मान के लिए अपने मान को ताल दिया विश्व पितामा जी कहते प्रभु में बड़े तीखे बाण चला रहा था अर्जुन के ऊपर वो बाण अर्जुन को नहीं लगते थे वो बाण आपकी छाती में लगते थे प्रभु और आपके शरीर से रथ की धारा होती है मानो लाल मूंग आपके अंग से निकल रही हो क्या सुंदर आप झांकी कुरुक्षेत्र के मैदान में एक हाथ में घोड़ों की लगाम और दूसरे हाथ में वो चाबुक और जब तेज हवा चलती थी कुरुक्षेत्र में आपके घुंघराले बाल आपके नेत्रों के सामने आ जाते थे और चाबुक लिए हाथ से जब आप उन बालों को सुलझा देते हैं क्या प्रभु आपकी झांकी थी कामदेव भी मोहित हो जाए आज भी वो मॉडल नहीं एक्शन में एक्शन मारो बालों के बोलू खेच ये सारी नकल भगवान की करते हैं प्रभु जब आपके भक्त अर्जुन किसी को मारते थे ना वो मरने वाले को परम धाम की प्राप्ति हो जाती अब भगवान भी बड़े रस्सी से भगवान को मजा आता है जब भक्त भगवान का चरित्र कहते हैं ना तो भगवान बड़े ललित होते हैं बोले बाबा वो कैसे बाबा कहते जानते सब कुछ वो सुनना हमारे मुंह से ये सुनो प्रभु जब अर्जुन किसी से युद्ध करता था अर्जुन का सीता बाण उसकी छाती में लग जाता था तो वो मरने वाला व्यक्ति अर्जुन को नहीं देखता था क्योंकि सामने तो आप ही नजर आते थे आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते देखते जब वो शरीर का त्याग करता था तो वे तो आपके परम धाम को चला जाता था बोलो दीन बंधु भगवान की जय गीता में लिखा ना आठवें अध्याय में अंत्य या मती सागति मरते समय जो सोच करोगे वही गति तो मरते हुए को नजर आ जाता था आपका चेहरा नजर आता था इसमें रामायण का ही प्रसंग है जितने राक्षस थे बोल रहे हम राम को नहीं छोड़ेंगे हम राम की सेना को नहीं छोड़ेंगे राम जी देख देख कर मुस्कुरा रहे राम जी को पता होना सुना तो कुछ भी नहीं है लेकिन कितनी बहादुरी दिखा रहे हैं भगवान खुश हो गए भगवान ने कहा जो भी हो अपने मालिक की आज्ञा का तो पालन कर रहे हैं उस समय भगवान को दया आ गया एक ही बाण प्राण हर ली एक ही बाण प्राण हर लीला दिन जान निज पद परम दीना बाण मारते जा रहे और परम धाम में सबको पहुंचाते जा रहे हैं इसलिए विष्णु जी कहते हैं प्रभु आपके भक्त का बाण लगता था टीका और आपकी छवि देखकर वो परम धाम को चले जाता बड़ी कड़क धूप थी धूप से आपके शरीर में पसीना आता प्रभु वो पसीना नहीं था अच्छा तो बाबा क्या था बोले सरकार गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नरमंदा सिंधु कावरी ये नदियाँ पसीने की धारा के द्वारा आपके अंग से बहती थी कुरुक्षेत्र की भूमि में गिरती थी इसलिए कुरुक्षेत्र की भूमि में शरीर त्यागने वाला वो परम धाम में चला जाता था बोलो भक्त भगवान की एक गंगा में नहाने से इतना पुण्य बताया गया जो सारी नदियों को भगवान वहाँ फेंक रहे थे पसीने की धारा में तो किधर जा रहे हो गए उसको तो भगवान ही जान सकता है लेकिन ये सारा रस कौन के सकते हैं कृष्ण जी बोले प्रभु वृंदावन के निधि वन में आप गोपियों के संग क्या रास करते थे महाराज अरे भगवान ने कहा तुम तो सारे पोल को खोलते जा रहे हो ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी विष्णु पितामा जी और महाराज के अंदर पहुंच गए और महाराज में कोई आम आदमी नहीं पूछ सकता महाराज में कौन पहुंचेगा जो परम भागवत होगा और परम भागवत कौन है बोलो विश्व पितामा महाराज की जय श्री गंगा पुत्र महाराज की जय बारह भागवत में नाम आता है विषम जी का बारह जति जो है ना उनमें नाम आता है विश्व पितामा कहते प्रभो जब मैं बाणों की वर्षा कर रहा था भयंकर वाण अर्जुन के रथ पर लग रहे थे उस वक्त आपने अर्जुन को कहा अर्जुन मारे तो अर्जुन ने कह दिया अरे प्रभु ये तो मेरे बाबा है मेरे दादाजी भगवान बोले दादा तुमको आधा करता जा रहा और तुमको दादे की लगी हुई है ठीक है अर्जुन तू नहीं तो मैं मारूंगा इसे भगवान रथ से कूद गए और भगवान ने क्या कहा था महाभारत में कहा था जब अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास गए थे द्वारिका भगवान लेते थे दुर्योधन भगवान के सर के पास जाकर बैठ गया और बाद में अर्जुन वो भगवान के चरणों के पास बैठ गए तो जैसे भगवान ने आग खोली तो सर नजर किस पर पड़ी अर्जुन तो भगवान ने पूछ लिया अर्जुन कहो तो पीछे दुर्योधन का ये क्यों कहो तुम नहीं आए तो भगवान ने कहा तू आया होगा मेरी तो दृष्टि उसके ऊपर ही पड़ी है ना तो अर्जुन तुम पहले कहो लेकिन भगवान ने कह दिया कि मेरी एक ही बात है एक और मेरी सेना है और एक और मैं हूं तो दोनों में से एक चीज को तो तुम तुम तो अर्जुन को बोला तुम्हें क्या चाहिए अब दुर्योधन को लालसा क्या थी सेना में और अर्जुन ने किसे सुना अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे सेना नहीं मुझे आप चाहिए तो भगवान ने भी कह दिया अर्जुन बात सुन ले मैं सारथी बनूंगा युद्ध नहीं करूंगा अस्त्र नहीं चलूंगा ये मेरा वचन है तो आज भगवान ने अपने वचन को तोड़ दिया रथ का टूटा पहिया लिए भगवान दौड़े दौड़े दौड़े दौड़े जा रहे हैं विगम पितामा ने अपने अस्त्रों को छोड़ दिया और भीष्म पितामा जी कहते प्रभु क्या वो आपकी छाकी थी आप पितामा रथ का पहिया लेकर मेरी ओर आ रहे थे बोले प्रभु भूमि काम गई अब भगवान ने पूछ लिया बाबा भूमि क्यों काम गई बोले सरकार आपने भूमि को भी तो कहा था कि मैं तेरा भार हल्का करूंगा और आपने ये भी कहा था कि मैं महाभारत में युद्ध नहीं करूंगा अस्त्र नहीं उठाऊंगा तो भूमि इसलिए काम गई कि मुझे वादा दिया था भार उतारने का और ये भी कहा था कि महाभारत में अस्त्र नहीं उठाऊंगा तो जो कृष्ण महाभारत में अस्त्र उठा सकता है युद्ध कर सकता है शायद मेरे वादे को भी तोड़ सकता है तो विषम जी कहते जब भूमि आप रही थी उस वक्त आपने अपने पिताम्बर को नीचे भेज दिया अच्छा बाबा पिताम्बर को भेजा बोले हाँ बोले सरकार पिताम्बर थोड़ी था तो भगवान ने कह दिया बाबा कौन था बोले बाबा भगवान वो आपका भक्त था बड़ी कठोर तपस्या करे तपस्या कर कर वो रेशम का कीड़ा बना और रेशम का कीड़ा बनकर उसने रेशम दिया और रेशम बनकर वो आपको लपेट गया इसलिए प्रभु पिताम्बर थोड़ी था वो तो आपका भक्त था और आपने अपने भक्त को आज्ञा दी जा भूमि को समझा इसलिए भगवत गीता के ग्यारहवें अध्याय के अंदर विराट रूप के अंदर बताया गया है भगवान की माला भगवान के जेवरात भगवान का ताज उस सबको क्या बताया कपड़े आदि को दिव्य बताया गया क्या बताया गया रूहानी बताया गया वस्त्र नहीं बताया क्या बोल रहे श्री कृष्ण ने जो माला पहनी हुई है दूतराज वो भी दिव्य है जो आभूषण है वो भी दिव्य है वस्त्र भी क्या दिव्य दिव्य तो होंगे ना क्योंकि सब भगवान के भक्त से तप कर कर कोई भगवान का गहना बन गया कोई भगवान की माला बन गया कोई भगवान का कवच ये सब भगवान के भक्त हैं ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम बारम्बार नमस्कार करते हैं भगवान का पिताम्बर नीचे और पिताम्बर ने कहा देख भूमि तुझे वचन दिया ने तेरा भार हल्का करेंगे तो करेंगे कृष्ण इस वक्त किसी भक्त का भार उतारने जा रहा इसका भी भार उतारेंगे और तेरा भी भार उतारेंगे तू शोक मत कर इस तरह विषम जी कहते प्रभु आपने भूमि को आश्वासन दे दिया लेकिन क्या वो आपकी क्षति थी आपके घुमराले बाल तेज हवा चल रही है आपका पिताम्बर लहरा रहा है और आपने उस पहिए को उठा रखा है उस वक्त प्रभु मैंने तो आपसे यही प्रार्थना करी हे कृष्ण मार और इस नरक से मेरी जान छुड़ा दे बोलो दीन बंधु भगवान की जय तो बड़े रसी के विषम पितामा जी बड़े रसी के विषम जी बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति विषम पितामा जी कहते प्रभु मेरी एक बेटी है और मैं अपनी बेटी का विवाह आपके संग करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बहुत बहुत वर्षों से कामना थी कि मेरी कन्या का वर भी अच्छा मिल जाए और घर भी अच्छा मिल जाए वर श्री कृष्ण और घर यदुवंशी तो पांडव बोलने लगे बाबा तो बड़े चतुर निकले हमारे सामने नेक के बाल ब्रह्मचारी बनते हैं और यहाँ बाबा ने विवाह भी कर लिया भगवान ने कहा बाबा तुम्हारी कौन सी पत, कौन सी कन्या है जिससे हम विवाह करें तो कौन कन्या है बड़ा सुंदर कहते विष्णु इति मत रूप कल पिता कृष्ण भगवत सात्वत पुंग वेद भूमि इति बुद्धि कौन है मेरी कन्या बुद्धि दो जगह बुद्धि का वर्णन भागवत में आता है एक जगह बुद्धि बता रहे हैं कन्या विषम जी ने अपनी कन्या बनाई और राजा पुरुजन ने इसे अपनी बीवी बनाया पर इन्होंने क्या बनाया मती को अपनी कन्या बनाया बोले प्रभु मैं अपनी बुद्धि के लिए कब से वर ढूंढ रहा था आज वर अच्छा नहीं इसलिए आप इनके साथ विवाह करते विश्व पितामा जी भगवान की स्तुति करते हुए भगवान को निहारते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया पांडव रोने लगे वातावरण शांत हो गया थोड़ी देर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी बाजे बजने लगे अप्सराएं नाचने लगी भगवान कृष्ण ने कहा हे पांडव जो गति विष्णु पितामा ने प्राप्त की वो दूसरे को मिलना दुर्लभ इसलिए शोक नहीं तुम्हें हर्ष करना चाहिए इस तरह विष्णु जी ने भगवान को देखते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया पापों को नाश करने वाला ये चरित्र है भक्ति को उत्पन्न करने वाला भक्ति को बढ़ाने वाला है और कृष्ण के करीब लाने वाला ये चरित्र है जो लोग प्रेम पूर्वक इसे सुनते हैं उस पर भगवान की कृपा हो श्रीमद भगवद गीता के आठवें अध्याय में भी लिखा है भगवान कृष्ण कहते हैं जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वे तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है इसमें रच मात्र भी संदेह की बात नहीं है और विषम जी ने किनका ध्यान करते हुए शरीर का त्याग किया श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग किया इसका अर्थ ये हुआ कि विषम जी भगवान को प्राप्त हो गए जो गीता में लिखी है जी पांचवें श्लोक में आज जाएगी छठे श्लोक में लिखा है कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त कर देता है जब इंसान जिसम छोड़ता है तो जो मोह करता है उसको वही गति मिल जाती है इस तरह विष्णु जी ने भगवान का चिंतन करके अपने शरीर का त्याग कर दिया भगवान को प्राप्त हो गए और यहाँ अब भगवान सबको हरिवार लेकर गए कि जितने लोग मरे थे उन सबका श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि करवाया और उस वक्त जो है बहुत शोक हुआ अब यहाँ पर जो है